साहिल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना साहिल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना देखेंगे कभी शौक से मक्का ओ मदीना देखेंगे कभी शौक से मक्का ओ मदीना साहिल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना देखेंगे कभी शौक से मक्का ओ मदीना देखेंगे कभी शौक से मक्का ओ मदीना मोमिन जो फैदा नक्श कफे पाए नबी हो मोमिन जो फैदा नक्श कफे पाए नबी हो ओ जेर कदम आज भी आलम का खजीना हो जेर कदम आज भी आलम का खजीना साहल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना साहल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना देखेंगे कभी शौक से मौका वो मदीना देखेंगे कभी शौक से मौका वो मदीना गर सुन्नत नौवी की करे भी उम्मा गर सुन्नत नौवी की करे भी उम्मा तू से निकल जाएगा फिर उसका सफीना तूफान न निकल जाएगा फिर उसका सफीना साहिल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना साहिल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना देखेंगे कभी शौक से मौका मदीना देखेंगे कभी शौक से मौका मदीना ये दौलत ईमान जो मिली सार जहां को ये दौलत ईमान जो मिली सार जहां को फैजान मदीना है फैजान मदीना फैजान मदीना है फैजान मदीना साहल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना साहल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना देखेंगे कभी शौक से मौका ओ मदीना देखेंगे कभी शौक से मौका ओ मदीना जो कल्ब पर शात सदा रंजो अलम से जो कल्ब पर सदा रंजो अलम से फैजान नबूवत से मिला उसको सकीना फैजान नबूवत से मिला उसको सकीना साहल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना साहल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना देखेंगे कभी शौक से मौका मदीना देखेंगे कभी शौक से मौका मदीना आए खुद रसूल कतन बशर आपके सदके आए खतम रसूल कतन बशर आपके सदके हर शर से हुआ पाक बने मिसल नगीना हर शर से हुए पाक बने मिसल नगीना साहिल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना साहिल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना देखेंगे कभी शौक से मौका वो मदीना देखेंगे कभी शौक से मौका वो मदीना सदके में तेरे हो गया रहबर उम्मा सदके में तेरे हो गया रहबर उम्मा जो कुफर की जुलमत था एक अब्द कमीना जो कुफर की जुलमत था एक अब्द कमीना साहिल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना साहिल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना देखेंगे कभी शौक से मौका मदीना देखेंगे कभी शौक से मौका मदीना اختر کی زبا اور شرف ناک محمد اختر کی زبا شرف ناک محمد اللہ کا احسان ہے بے خون و پسینہ اللہ کا احسان ہے بے خون و پسینہ साहल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना साहल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना देखेंगे कभी शौक से मौका मदीना देखेंगे कभी शौक से मौका मदीना सीनों में वफा के बंदों के फिर शौक शहादात उठा है फिर अश को वफा के राहू में एक शोरी सलासिल बरपा है हम अहल जुनू को हर रुख से सो बार जहाने पर खाएं सीनों में वफा के बंदूक फिर शौक शहादा उठा है फिर अशक वफा की राहों में एक शोर सलासिल बरपा है तारीख का जब भी रुख बदला बदला है हमें दीवानों ने रुख बदला बदला है हमें दीवानों ने इंसाफ की शम रोशन की जल जल के हमें परवानों ने इंसाफ की शम रोशन की जल जल के हमें परवानों ने हम अहल जुनू को हर रुख से सो बार जहाने पर काहें सीनों में वफा के बंदू की फिर शौक शहादा टूटा है मकतल भी हमारा गहुआरा भी हमारा मस्कन है मकतल भी हमारा गहुआरा जिंदा भी हमारा मस्कन है हम राह वफा में सर को दे सारे जहाँ पर रोशन है हमराही वफा में सर को दे सारे जहाँ पर रोशन है हम अहले जुनू को हर रुख से सो बार जहाने पर खाए सीनों में वफा के बंदूक फिर शौक शहादा टूटा है हम खेल समझ कर लाते हैं तूफा के भयानक मौजू से हम खेल समझ कर लाते हैं तूफा के भयानक मौजू से क्या हिल जुनू दब जाएंगे अहल जफा की मौजू से क्या अहल जुनू दब जाएंगे इन अहल जफा की मौजू से हम अहल जुनू को हर रुख से सो बार जहाने पर खाएं सीनों में वफा के बंदूक फिर शौक शादा टूटा है सीनों में व जज्बे रखते हैं जो आग भी है और शबनम भी सीनों में वह जज्बे रखते हैं जो आग भी है और शबनम भी हम गुंज सिफत भी रखते रखते हैं मजाजे बरहम भी हम गुंजा सिफत भी रखते रखते हैं मजाजे बरहम भी हम अहले जुनू को हर रुख से सो बार जहाने पर है सीनों में वफा के बंदों के फिर शौक शादा टूटा है माजी में जो तूफा रूप से मंडला के हाथ तक आया था माजी में जो तूफा यूरोप मैं बिला के हाँ तक आया था हमने है उसे ललकारा था हमने ही उसे टकराया था हमने है उसे ललकारा था हमने उसे टकराया था हम अहल जुनू को हर रुख से सो बार जहाने पर खाए सीनों में वफा के बंदू के फिर शौक शहादा तू ठाहे सोचा है कपिल अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे सोचा है कपिल अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे ईसा से जिए तू जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे ईसा से जिए तू जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे हम अहल जुनू को हर रुख से सो बार जहाने पर खाए सीनों में वफा के के फिर शौक शहादत उठाएं फिर अशुक वफा की राहों में एक शोर सलासिल बरपा है हम अहल जुनू को हर रुख से सो बार जहाने पर काहे सीनों में वफा के बंदों के फिर शोक शहादा तू ठाहे ये जिक्र खुदा दिल में सदा रहने दिया कर और नक्श खुदा दिल में जमा रहने दिया कर और नक्श खुदा दिल में जमा रहने दिया कर ये जिक्र खुदा दिल में सदा रहने दिया कर और नक्श खुदा दिल में जमा रहने दिया कर और नक्श खुदा दिल में जमा रहने दिया कर दिल होगा तेरा कुरबेला ही से मुशर्रा दिल होगा तेरा कुरबेला ही से मुशर्रा बस खुद को हसीनों से जुदा रहने दिया कर बस खुद को हसीनों से जुदा रहने दिया कर ये जिक्र खुदा दिल में सदा रहने दिया कर और नक्श खुदा दिल में जमा रहने दिया कर और नक्श खुदा दिल में जमा रहने दिया कर क्या जाने हो कसलम है कोई फजल लाही क्या जाने हो कसलम है कोई फजल लाही हर वक्त दरे कल्ब खुला रहने दिया कर हर वक्त दरे कल्ब खुला रहने दिया कर ये जिक्र खुदा दिल में सदा रहने दिया कर और नक्श खुदा दिल में जमा रहने दिया कर और नक्श खुदा दिल में जमा रहने दिया कर मुमकिन है कहीं कोई हंसी सामने आ जाए मुमकिन है कहीं कोई हंसी सामने आ जाए एक पर्दा नगाहों में गिरा रहने दिया कर एक परदन गाहू में गिरा रहने दिया कर ये जिक्र खुदा दिल में सदा रहने दिया कर और नक्श खुदा दिल में जमा रहने दिया कर और नक्श खुदा दिल में जमा रहने दिया कर ये नफ्स तेरा खुद न बड़ा पन न दिखाए ये नफ्स तेरा खुद न बड़ापन न दिखाए ताजिस कोई दर पे बड़ा रहने दिया कर ताजिस कोई दर पे बड़ा रहने दिया कर ये जिक्र खुदा दिल में सदा रहने दिया कर और नक्श खुदा दिल में जमा रहने दिया कर और नक्श खुदा दिल में जमा रहने दिया कर तेरी कैसी हरकत से वो मौलाना खफा हो तेरी कैसी हरकत से वो मौलाना खफा हो रहते हैं खफा बुत तो खफा रहने दिया कर रहते हैं खफा बुत तो खफा रहने दिया कर ये जिक्र खुदा दिल में सदा रहने दिया कर और नक्श खुदा दिल में जमा रहने दिया कर और नक्श खुदा दिल में जमा रहने दिया कर अखलास से आला भी है कि मरुत बनासिर इखलास से आला भी है मरुत बनासिर पस कल्ब को राजी बरजा रहने दिया कर पस कल्ब को राजी बरजा रहने दिया कर ये जिक्र खुदा दिल में सदा रहने दिया कर और नक्श खुदा दिल में जमा रहने दिया कर और नक्श खुदा दिल में जमा रहने दिया कर ये जिक्र खुदा दिल में सदा रहने दिया कर और नक्श खुदा दिल में जमा रहने दिया कर और नक्श खुदा दिल में जमा रहने दिया कर मुस्लिम हैं हम वतन सारा जहां हमारा रोए जमी से लेकर से मा कमी से ले नहीं मिटाना आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा मुस्लिम है हम वतन है सारा साए में हम पल कर जाओ खंजर हलाल का है कौमी निशा हमारा मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा रोए तमी से ले कदू में पहला अगर खुदा का दुनिया के बुत कदू में पहला वगर खुदा का हम उसके पास बाहें हम उसके पास बाहें ओ पास बा हमारा मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा গুলিস্তান जब आशिया हमारा मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী এতক্ষণ আপনারা শুনলেন সুপরিচিত কণ্ঠশিল্পী মুহতারাম উমর ফারুক ভাইয়ের একক অডিও অ্যালবাম ও সাঙ্গেগারা ক্যাসেটটি ধারা বর্ণনায় ছিলাম আমি মোহাম্মদ ফাইজুল্লাহ ক্যাসেটটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় হজরত মাওলানা মোহাম্মদ সালাউদ্দিন হুসাইনি ক্যাসেটটির প্রযোজনা ও পরিবেশনায় রাহমানিয়া ক্যাসেট ভুবন তিহাত্তর সাত মসজিদ সুপার মার্কেট মোহাম্মদপুর ঢাকা